फिर जब सूर में फूका जाएगा तो उस दिन उनके दरमियान न रिश्तेदारियां रहेंगी और न ही वो आपस में सवाल कर सकेंगे